i'm a गिरे Yeah.

भी इस प्रकार से जुड़ जाता है कि अवतार कृष्ण गया जो परमात्मा है ब्रह्म है नारायण है उसी की बात उसी ने अवतार किया तो भगवान राम जी वही जो ब्रह्म है वही भगवान राम जो लक्ष्मी नारायण है वही भगवान राम जो वैकुंठ धाम में बात करने वाले भगवान है यही भगवान राम इसलिए जो निर्गुण रूप में है

वही परमात्मा ईश्वर कहलाने लगा ईश्वर जो सर्वोप है लेकिन निराकार ईश्वर ईश्वर के व्यास है विद्यमान जितनी ईश्वर है तो उसमें व्यापक होकर लेकिन परमात्मा जो प्रकृति है उसकी उपाय धारण करके जगत के समय करने लेकिन वही परमात्मा निराकार है निराकार उसी वही परमात्मा अगर शरीर धारण कर कोई रूप आकार धारण कर तो साकार हो गया तो सगुण और साकार वही परमात्मा हो गया तो भगवान राम ने अवतार दिया तो सगुण साकार हो गया और सगुण साकार लोगों को उपासना के लिए सुगम और उनके आकार बुद्ध में आ सकता है कैसा रूप है कैसे उनका सुंदर स्वरूप है ये सब बुद्धि में आना आसान और उनका जगत के जीवों से संबंध भी हो गया जगत के रचना करने वाले हो गए जीवों के पाप होने का फल लेने वाले हो गए जीवों का उद्धार करने वाले हो गए इस प्रकार के भगवान ने ये विशेषताएं गई और भगवान को आकाशवाणी होती है तो भगवान कहते हैं कि मुनि लोग सिद्ध लोग स्वदेश में इंद्र इन सबको संबोधन करके भगवान कहते हैं कि तो वही उन लोगों के लिए हम वेश धारण करेंगे वेश धारण करने वाले सारा रूप धारण करेंगे वेश धारण करेंगे तुम्हारी आप धार के मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे कारण से जब देखें कि उनको प्रकार से कष्ट हो रहा है दुखी लोग अधर्मी लोगों को क्या बता रहे हैं तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम सभी धारण करें और बंधन सहित होने हमने उतारा गेहूँ जिनकर के द्वारा और हम जिनकर हम सूर्य वंश में हम अवतार लेंगे अवतार के कराने एक प्रकार से उतरना सर्वोपर इसी की निर्गुणाकार करने सरोवर वो जब सरोवर हो गया तो मानो एक पीढ़ी नीचे बना है साकार हो गया तो मानो एक पीढ़ी और है एक पीढ़ी बनाया जीवों के लिए प्राणियों के लिए उनके हित के लिए है और उनकी सहायता को करी और फिर उसके बाद से हमारा स्वरूप तो उसी के कार्य का ही बना हुआ है हर समय वो निर्गुण निराकरण तो है उसमें कोई कोई नहीं तो भगवान कहते हैं देंगे और जिस तरह सूर्य में देंगे <clears throat> सूर्य कहता है उदाहरण उदाहरण का वो बहुत आगे उदाहरण जितने भी आचार्य बोले गए हैं बड़े महात्मा हैं बड़े तपस्वी हैं बड़े ज्ञानी हैं ऐसा ग्रंथ है जिनमें कहीं कोई भी आधा धर्म के मार्ग पर किसी ने ही नहीं रखा कभी अधर्म को जाने के लिए हमने उनके विचार ही नहीं आया इस प्रकार के लाए लोग थे उनका सूर्यवंश भोसले उस वंश में होता और कहते हैं अंतर शरीर मंदिर अवतार हम ये अवतार देंगे और हमारे अंश रूप में वो वो भी अवतार देंगे भगवान जब अवतार देते हैं तो एक चतुर्व्यूह के साथ चतुर् चार रूपों में अवतार देते हैं यहाँ भगवान राम लक्ष्मण ये भगवान का चतुर्व्यूह है

क्रियाएं होती है इंसान की आवश्यकता होती है इसी प्रकार के लिए भगवान भगवान कृष्ण अवतार में तो भी इस प्रकार से जी के हाथ में वहाँ तो भी वहाँ भगवान राम राजेश्वर ने और के लिए भगवान राधे राम है भगवान ने और बाकी लक्ष्मण जी मालूम होते हैं भरत जी मालूम होते हैं तैयार था इसलिए वहाँ चलने जो भी हमारे हैं सब परमात्मा के हैं ये भी विभिन्न रूप धारण करके परमात्मा एक ही है सरकार भी परमात्मा का एक है सरकार है संख्या हो गया संतोष हो गया तो परमात्मा के लिए कोई अद्भुत बात नहीं कोई असंभव नहीं ये यहाँ परमात्मा लोगों में हो जाए संगम करके मंदिर को सारा और मानवी के भी पालन करेंगे और कैसे मुसलमान लोग यहाँ कैसे और ये दोनों में पहले बहुत चर्चा की है मैंने हमने सुबह कर दिया पहले हम तुम्हारे आए हैं तुम्हारे यहाँ कैसे

ये ये कर्मों की कथाएं ये एक आदमी हमारे की कथा है गरीब की कथा गया है उनकी कथा गया है सब कहा गया है एक के लिए शांति के लिए हर सब का गुरु है ऐसे नाम जानने आते हैं इसलिए विद्यार्थी ये भगवान के गुण के लिए कई कर्म उनके व्यवहार के कारण भी नहीं बता सकते हैं

विकास है ना समाज में गुरुदास के भाई हुए और सूर्यदास नदी जितने भी इसके बनाना हुए हैं उनकी कला श्रेष्ठ उत्तम आसन करके आकाशवाणी कई करते हैं हम लोगों ने भी सबसे अधिक वाले थे सूर्य इतने पहले हमारे अन्य नामायों योगी के आदर्श कुछ नाम आदर्श बनाने की आवश्यकता है वो लोग आदर्श के समान और आगे हमारे करने के बाद में जो कहा था उनकी बात को लेकर करना नारद ने निशान दिया था तो लेकिन उनको

वहाँ पर और वही लेकिन इसको बोलने में समाधि का लीला है हमारे पास होता है और लीला में भी होगी और ज्ञान की आवश्यकता है ये रहेंगे

सबके वर्तमान में विद्युत होने के जैसे स्मरण कारण नहीं होती कभी शिकार के उसमें जो लिखा पड़ा कि पहले शिकार के समान मालूम करते हैं तो भी काफी रास्ते करना चाहिए तो राधा कैसे हैं तो ये दूसरी वाली होगी कि अगर रावण शिकार में करने आए

दोनों अपनी ओर से गए अगर कोरोना और हमारे अगली पहले आया तो ये कहना छोड़ दो और सीधा देवी जगह नाटक गया वो भी नहीं बनाई वैसे नाटक लेकिन बहुत बोलने चलाई ऐसे हमारे जो है अकेले तो इस बार के लिए हमारे

जिसके हमें आधार परमात्मा में स्मरण रखते हैं आदर के परमात्मा की सविता के स्मरण करो परमात्मा की गुणों के स्मरण करो हम परमात्मा के स्मरण से जैसे परमात्मा देखना शुरू नहीं करना चाहिए परमात्मा का स्मरण करो हम परमात्मा के स्मरण करें जैसे कि आनंद की कल्पना न करें तो परमात्मा का स्मरण करो हम परमात्मा के स्मरण करें और परमात्मा की शक्ति का स्मरण न करें हमारे दूसरे समय की समझ योग की करना पसंद आता है तो परमात्मा विषय के वैसा हमें है हमें परमात्मा बताया ये परमात्मा दुकान है इसलिए जो सर्वोत्तम दुकानी जैसे गुरु परीक्षा है और आयोग का सम्मान और गुरु आयोग को आकर जो मशीन नहीं देते हैं इसलिए दोनों सम्मान है जैसे उसके सामने ज्ञान क्या है जो ज्ञान करते रहते हैं उनकी आगे ज्ञान में निकल उनको ज्ञान की कोई घर हो उसी से भी ज्ञान नहीं आगे बताने इसलिए okay संभावना है मेरी धर्म है हमारे पिता है भगवान है मेरे धर्म है भगवान है और मान और कहीं हमारी मेरे धर्म हो मेरे हमारी एक मेरे हमारे हम लोग अपने मेरे है अपने दैनिक का हमारे विकास के ग्रह को किसी भी प्रकार के कार्य का अवधारण के बाद इन लोगों का विकास होगा और जीवन से विकास विधारणाएं होगी इसलिए निश्चित होकर के भगवान की संभावना आकाशवाणी की आकाशवाणी की हुई और आकाशवाणी ने कई बातों का संदेश दिया कि भगवान देखो क्या होगा क्या होगा सीता जी कहें भाई कहें भगवान ने प्रकार ऐसा नहीं कि आत्मा की

एक ही आम के लिए नहीं एक बेटिया एक लेकिन उसी के लिए

ये करेगी वो हर बड़े घटनाएं विचार करेंगे इसमें इतनी तीन आश्चर्य बता दी भगवान के पास भगवान की प्रार्थना की गई कैसे पुरस्कार में चर्चा की गई नाच की स्थापना हो दिया गया लेकिन भगवान के पास अनुष्ठानों के लोगों उसकी आश्रम करना और फिर देवताओं के लिए भगवान का कि जैसे भगवान देवताओं को

उन जीवनों में संस्कारों जो ध्यान जरूर देना है तो तुम तीन जन्म तक में आकर होंगे लेकिन मैंने उनको जल्दी सुंदर होंगे बाहर बाहर करने के लिए हम उन्हें करने के लिए अवतार लेंगे और जो एक नाम रखा गाँव में नाम शादी हो गए दूसरी का काम करते ये भगवान हमारा उद्धार करने के लिए आएंगे फिर उनको मुक्त करेंगे

तो हो सकता है कुछ भी बात सुनना ही चाहे आकाशवाणी होगी चाहे चलेगा चाहे सरकार का होगा तो ब्रह्मांडी रहेगा आकाशवाणी भी है और नहीं रहेगा और तुम्हारा शरीर पर होने वाले हैं इसलिए परमेश्वर आधार भी आकृति में है हमारी और थोड़ी विद्या ये आ गया कि बड़े डॉक्टर की मानो भगवान नहीं गई और वहाँ बोलूंगा इस प्रकार को तो और तो ये जो और उसके बाद भगवान ने तो देवताओं को इस कार्य में रहते हुए भगवान के प्रार्थना कर रहे थे उन देवताओं को भगवान जी कह रहे हैं तो देखो भगवान भगवान के उन्होंने कर दिया तो इसमें ये बात ये कि अगर हम लोग क्या करते हैं भगवान भगवान है ये हम लोगों के लिए पूरी प्रयास करना चाहिए ये जरूर है समाज नहीं आ सकते उसको ये ध्यान के राज करना पड़ेगा निराशा से समाज नहीं रह सकते तो भी हमको इसलिए उन बाल को बाल में खा करके उन्हें बाहर बनने लगी मैंने जिन्हें देखा अपने पर भगवान नाम करने के आने हैं और सूर्य के लिए और बाल में कहने लगी कि भगवान बन गया बुरी बाली बनाई बेहद होने का कारण है जो संपादन करने के उत्तर हुए उन लोग हमारे मानव मानव और मानव मानव इसलिए मानव ने सबसे तेज मानव करने अंग्रेजी अंग्रेजी हमको हनुमान का गुरु धारण किया

वो कानून के न्याय देंगे और जो दूसरे पे और भी देता है एक देता है जो उनकी सेना के सैनिक बने इस काल से बहुत विकास सेना की हो गया इसलिए ये मतलब भगवान राम की मान लेगा क्योंकि अंडा देवा उनको देवा ऐसे